उन्होंने जिस तरह सब्र से काम लिया था आज मैंने उन्हें उसका यह बदला दिया है कि उन्होंने अपनी मुराद पा ली है